खजाने के 40 संदूक लेखन एरन शपर्ड चित्रांकन एलिशर डियानोव भाषांतर पूर्व याज्ञिक कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि शाही खजाना लूट लिया गया है ईरान के सबसे हुनरमंद पेशीन गोई करने वाले यानी भविष्य वक्ता खजाने के चालीस संदूकों का सुराग नहीं बता पाते हैं ढोंगी सुल्तान कहता है और उन्हें कैद खाने में डलवा देता है हर ओर से मायूस हो सुल्तान अहमद को महल में बुलवाता है उसने सुना है कि अहमद एक खोई हुई अंगूठी का पता बताने में कामयाब रहा था नौजवान अहमद को खोए हुए खजाने को तलाशने के लिए चालीस दिनों की मोहलत मिलती है पर अहमद जानता है कि असली ढोंगी तो वो खुद है अंगूठी का सुराग बताना तो किस्मत की बात थी वो पेशीन गोई के पासे फेंकने से कहीं ज्यादा आसानी से कुदाल और फावड़ा चलाने का आदि है क्या अहमद चालीस दिन पूरे होने पर खुद को बचा सकेगा एरन शपर्ड ने विनोद और उत्तेजना से भरी इस पारंपरिक ईरानी लोक कथा को अपनी तरह से पेश किया है और अब मुख्य कहानी ईरान के शाही शहर इस फहान में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था जिसकी बीवी का नाम जमेल था वो किसी खास हुनर या पेशे में माहिर नहीं था वो हमेशा अपनी बीवी से कहता था कि अगर तुम कुदाल और फावड़े से गड्ढा खोद सकते हो तो तुम जिंदा रहने के लिए काफ़ी कमा सकते हो पर जमेल के लिए इतना भर काफ़ी नहीं था एक बार जमेल आवामी गुसल यानी सार्वजनिक नहान घर में गई जैसे वो अक्सर जाती थी ताकि गर्म पानी से नहा सके और दूसरी औरतों से गपशप कर सके पर दरवाजे की चौकसी करने वाले ने उससे कहा तुम आज अंदर नहीं जा सकती सुल्तान के शाही पेशीन गो की बीवी ने पूरी जगह अपने लिए ले रखी है वो खुद को क्या समझती है जमेल बड़बड़ाई सिर्फ इसलिए कि उसका खाविन लोगों की तकदीर बताता है पर उसे घर लौटना ही पड़ा पूरे रास्ते वो गुस्से से धुआती रही उस शाम जब अहमद ने दिन भर की कमाई जमेल की हथेली पर धरी वो भभक पड़ी इन चंद सिक्कों को तो देखो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती कल से तुम बाजार में बैठोगे और पेशीन गोई करोगे यानी लोगों की किस्मत पढ़ोगे तुम पगला गई हो क्या अहमद ने कहा मैं लोगों की किस्मत बताने के बारे में भला क्या जानता हूं कुछ जानने की दरकार है भी नहीं जमेल बोली जब कोई तुमसे सवाल पूछे तुम्हें बस पासे ही तो फेंकने हैं और तब कुछ ऐसा बड़बड़ाना है जो अक्लमंदी भरा लगे या तो मेरी बात मान लो नहीं तो मैं अपने बाप के घर चली सो अगले दिन लाचार अहमद ने अपनी कुदाल और फावड़े को बेचा और उस पैसे से पासे तख्ता और जैसा चोंगा पेशिन गोई करने वाले पहनते हैं वैसा एक चोंगा खरीद लिया इसके बाद वो बाजार में आवामी गुसलखाने के पास बैठ गया वो बैठा ही था कि सुल्तान के एक वजीर की बीवी उसके पास दौड़ी आई पेशिनगो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मैं अपनी बेशकीमती अंगूठी पहनकर गुसल करने आई थी पर अब वो गायब है बताओ वो कहाँ है अहमद ने अपनी थूक निगली तब पासों को फेंका वो घबरा कर सोचने लगा कि वो कहे तो क्या कहे अचानक उसकी नज़र उस महिला की आस्तीन पर पड़ी उसे उसमें एक छोटा सा सुराख दिखा और उसके अंदर से नज़र आती चमड़ी भी अब ये तो किसी इज्जतदार औरत के लिए ठीक नहीं था सो अहमद आगे को झुका और उसे चेताने को फुसफुसाया मोहतरमा मुझे एक सुराख दिख रहा है एक क्या औरत ने भी सामने झुककर पूछा एक सुराख एक सुराख वो एकदम खुश हो गई बेशक एक सुराख वो तेजी से गुसलखाने की ओर लौटी और दीवार के उस सुराख को तलाशा जिसमें नहाने से पहले उसने हिफाजत के लिए अंगूठी रखी थी पर तब भूल गई थी अंगूठी ले वो अहमद के पास लौटी खुदा का शुक्र है उसने कहा तुमने बिल्कुल सही बताया कि वो कहाँ थी तब उसने भौचक अहमद को सोने का एक सिक्का थमाया उस शाम जब जमेल ने सिक्का देखा और किस्सा सुना वो फौरन बोली देखा ना मैं कहती न थी कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है आज तो खुदा की मेहरबानी थी अहमद बोला पर मैं दूसरी बार उसका इम्तहान नहीं लूंगा बकवास जमेल ने पलट कर कहा अगर तुम अपनी बीवी को साथ रखना चाहते हो तो कल बाजार में लौटोगे अब हुआ यह कि इत्तफाक से उस रात सुल्तान के महल में रखा शाही खजाना लूट लिया गया चालीस जोड़ी हाथों ने चालीस संदूकों में भरा सोना और जवाहरात पार कर लिए थे अगली सुबह ये खबर सुल्तान को सुनाई गई मेरे शाही पेशीन गोई करने वालों और उनके सहायकों को बुलाओ सुल्तान ने हुक्म दिया हालांकि सभी पेशीन गोई करने वालों ने अपने पासे फेंके और बड़ी अक्लमंदी से बड़बड़ाए उनमें से एक भी चोरों या खजाने का पता न बता सका ढोंगी सुल्तान चीखा और हुक्म दिया सबको कैद खाने में ठूस दो सुल्तान ने उस नौजवान पेशीन गोई करने वाले के बारे में सुन रखा था जिसने वजीर की बीवी की अंगूठी का सुराग बताया था सो उसने दो पहरेदारों को बाजार भेजा कि वे अहमद को लिवा लाएं अहमद कांपता थरथराता सुल्तान के सामने हाजिर हुआ पेशिन गो सुल्तान ने कहा मेरे खजाने से चालीस संदूक चुरा लिए गए हैं चोरों के बारे में तुम क्या बता सकते हो अहमद ने चालीस संदूकों को उठा ले जाने के बारे में सोचा जहां पना मैं इतना बता सकता हूं कि चालीस चोर थे कमाल है सुल्तान ने कहा मेरे अपने पेशिनगोई करने वालों में एक भी यह तक नहीं बता पाया था अच्छा तो अब उन चोरों और ख़जाने का पता भी बताओ अहमद को घबराहट के मारे चक्कर आने लगे मैं मैं पूरी कोशिश करूँगा हुजूर पर कुछ वक्त लगेगा कितना सुल्तान ने जानना चाहा चालीस दिन हुजूर अहमद ने ज़्यादा से ज़्यादा समय मांगते हुए कहा हर एक चोर के लिए एक दिन यह तो बड़ा लंबा समय है सुल्तान ने कहा पर ठीक है इतना वक्त तुम्हें तो देता हूँ अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा पर नाकाम रहे तो तुम भी बाकी पेशिन गोई करने वालों के साथ कैद खाने में सड़ोगे घर लौट अहमद जमेल से बोला देखा तुमने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी है चालीस दिन की बात है कि सुल्तान मुझे कैद खाने में ठूस देगा बकवास जमेल ने कहा उन संदूकों को खोज निकालो आखिर तुमने अंगूठी भी तो ढूंढ निकाली थी कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं ढूंढा था जमेल वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी पर इस बार कोई उम्मीद नहीं है अहमद ने सूखे खजूर लिए और उनमें से चालीस गिनकर एक मर्तबान में डाल दिए मैं हर दिन एक खजूर खाऊंगा इससे मुझे पता रहेगा कि मेरी आज़ाद ज़िंदगी के बचे हुए चालीस दिन कब पूरे हो चुके हैं इधर बात यह थी कि सुल्तान के खदमतगारों में से एक उन चालीस चोरों में शामिल था उसने सुल्तान और अहमद की पूरी बातचीत सुनी वो उसी शाम चोरों के ठिकाने पर पहुंचा और चोरों के सरदार को सब बताया एक नया पेशीन गोई करने वाला है जो कहता है कि वो चालीस दिनों में चोरों और ख़जाने को तलाश लेगा वो सबको बेवकूफ़ बना रहा है सरदार ने कहा पर हम कोई जोखिम नहीं मोल ले सकते ऐसा करो तुम भेस बदलो और उसके घर जाकर जो पता कर सको पता लगाओ सो सुल्तान का खिदमतगार अहमद के घर की सपाट छत पर चढ़ा और नीचे घर के अंदर हो रही बातें सुनने लगा इत्तेफाक से अहमद ने उसी वक्त मर्तमान में से पहला खजूर निकाला और जमेल से बोला ये पहला है चोर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई वो इतना घबरा गया कि सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा वो फटाफट चोरों के ठिकाने पहुंच सरदार से बोला वो बड़ा पहुंचा हुआ है उसकी ताकतें कमाल की हैं मुझे देखे बिना ही उसे मालूम पड़ गया कि मैं छत पर हूं मैंने उसे साफ साफ कहते सुना ये पहला है तुमने यूं ही सोच लिया होगा सरदार ने कहा कल तुम दो जने जाना अगली रात सुल्तान का खिदमतगार अपने एक चोर साथी के साथ अहमद की छत पर लौटा वे कान लगाए सुनने की कोशिश कर रहे थे कुछ देर बाद अहमद ने दूसरा खजूर खाया और बोला ये दो हुए दोनों चोरों की बात सुन चोरों का सरदार बोला ऐसा हो ही नहीं सकता सो अगली रात सरदार ने तीन चोरों को भेजा तब चार उसके बाद पांच फिर छः को यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक चालीसवीं रात सरदार ने कहा इस बार मैं खुद भी चलता हूं अब चालीस के चालीस चोर अहमद की छत पर खड़े कान लगाकर सुनने लगे अहमद ने उदासी से आखिरी खजूर खाया और बोला ये चालीसवां हैं गिनती पूरी हुई जमेल अहमद के पास आकर बैठी अहमद वो बुझे सुर में बोली ये मेरी गलती थी मुझे तुमसे पेशिनगोई गोई करने को नहीं कहना चाहिए था तुम जो हो सो हो तुम्हें कुछ दूसरा बताने की कोशिश मुझे नहीं करनी चाहिए थी क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो मैं माफ़ करता हूँ जमेल पर गलती मेरी भी थी मुझे भी वो नहीं करना चाहिए था जो अक्लमंदी की बात न हो पर इस बहस से अब क्या फ़ायदा ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी अहमद ने गहरी सांस भरते कहा सुल्तान के सिपाही अभी से पहुंच गए वो दरवाज़ा खोलते बोला ठीक है ठीक है मैं जानता हूं कि तुम लोग क्यों आए हो उसने दरवाज़ा खोला अपने सामने चालीस पुरुषों को घुटने टेक ज़मीन पर झुकते देख वो भौचक रह गया बेशक आप सब कुछ जानते हैं महान पेशीन गो चोरों के सरदार ने कहा आपसे कुछ छुपा नहीं है पर हम पर रहम कीजिए मेहरबानी से सुल्तान को हमारा सुराग मत बताइएगा हालांकि अहमद चकराया हुआ था वो समझ गया कि यही चालीस चोर हैं उसने जल्दी से सोचा और बोला ठीक है मैं तुम्हारा सुराग नहीं खोलूंगा पर तुम लोगों को खजाने की पाई पाई लौटानी होगी फौरन फौरन सरदार ने घिघिया कर कहा रात बीतने से पहले ही चालीस जोड़ी हाथों ने सोने जवाहरातों से भरे संदूक सुल्तान के खजाने में वापस धर दिए अगले दिन सुबह सुबह अहमद सुल्तान के सामने हाजिर हुआ जहाँ पना मैं अपनी ताकत से या तो चोर खोज सकता हूँ या फिर ख़जाना पर दोनों नहीं आप किसे चुनना चाहेंगे मेरे ख्याल से ख़जाना सुल्तान ने कहा हालांकि चोरों को न पाना बड़े अफसोस की बात है उनके लिए खोलता तेल तैयार था खैर बताओ ख़जाना कहाँ है मैं फ़ौर अपने आदमी भेजता हूँ उसकी दरकार नहीं हुजूर अहमद ने हवा में अपने हाथ लहराए और बोला अगड़म बगड़म तिगड़म बिगड़म हल्लम चल्लम तब उसने ऐलान किया मेरी जादुई ताकत से सारे संदूक अपनी जगह लौट चुके हैं सुल्तान खुद अहमद के साथ खजाने में गया और सारे संदूकों को अपनी जगह पर देखा तुम इस ज़माने के सबसे बड़े पेशीन गोई करने वाले हो सुल्तान ने खुश होकर कहा आज से तुम ही मेरे शाही पेशीन गोई करने वाले बनोगे शुक्रिया जहांपना अहमद ने अदब से झुकते हुए कहा पर यह नामुमकिन है आपका ख़जाना ढूंढना इतना मुश्किल था कि मेरी सारी जादुई ताकत चुक गई है अब मैं कभी पेशिन गोई कर ही नहीं सकता अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ सुल्तान ने उदास होकर कहा फिर तो मुझे तुम्हें दुगना इनाम देना होगा तुम इन संदूकों में से दो ले जाओ सो अहमद जमेल के पास सही सलामत दौलतमंद और पहले से कहीं ज़्यादा अकलमंद बन लौटा और जैसा कोई भी पेशिनगोई करने वाला बताता इसके बाद वे हमेशा के लिए एक खुशहाल जिंदगी जीते रहे इस किस्से के बारे में भविष्य वक्ता बनने का नाटक करने वाले इंसान का किस्सा ईरान और बाकी इस्लामी दुनिया की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है आप चाहें तो ईरानी लोक कथाओं के संकलनों को खंगाल कर उसके और कारनामों के बारे में पढ़ सकते हैं इस फहान शाह अब्बास महान ने पंद्रह में शहर इस्फहान को ईरान की राजधानी बनाया था और अगले सौ सालों तक ये राजधानी बना रहा अब्बास के समय में ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से गिना जाता था और कला और व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था इस समय को ईरानी संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ईरान को पहले पर्शिया या फारस कहा जाता था पेशिनगोई करना यानी भविष्य बताना जादू से गुप्त बातें जानने की चेष्टाएं इंसान के पूरे इतिहास में हर एक संस्कृति में होती रही हैं अज्ञात को जानने का फारसी तरीका था पासों को फेंक कर बूझना इन पासों को रहमल कहा जाता था भविष्य पढ़ने वाले आठ पासे फेंकते थे और वे तख्ते पर जिस तरह गिरते थे उस आधार पर सवाल का जवाब देते थे पोशाक मुस्लिम कानून स्त्रियों और पुरुषों को शालीन कपड़े पहनने को कहता है जिससे लगभग पूरा शरीर ढका रहे ईरानी महिलाओं का परंपरागत वस्त्र चादोर कहलाता है ये काले कपड़े का बना होता है जिसे स्त्रियां अपने कपड़ों के ऊपर लपेटती हैं सार्वजनिक गुसलखाने आम लोगों के लिए बने गुसलखाने या हमाम ईरानी और मध्य पूर्व के परंपरागत सामाजिक जीवन हिस्सा रहे हैं इन हमामों में एक बड़ा कुंड होता था जिसमें गर्म पानी होता था जैसे अंग्रेज़ों के हॉट बाथ होते हैं इनका इस्तेमाल स्त्री पुरुष दोनों करते थे पर उनके कमरे और समय अलग अलग हुआ करते थे रिहायशी मकान ईरान के रिहायशी घरों की छतें सपाट होती हैं इनका उपयोग कई तरह से किया जाता है गर्मियों में इन छतों पर सोया जाता है ताकि कमरों की घुप गर्मी से बचा जा सके घर के अंदर से बनी सीढ़ियां छत को जाती हैं और ऊंची दीवारें निचता बनाए रखती हैं